वशो Sarvasar Upanishad talks on Sarvasar Upanishad even at meditation camp Matheran India discourse number four मनुष्य की चेतना की चार अवस्थाएं हैं जागृत से उन पर विचार प्रारंभ करते हैं ऋषि ने कहा है इंद्रियों और मन के द्वारा चारों ओर फैले हुए सूर्य आदि देवताओं के प्रति जो संवेदनशील बोध की अवस्था है वो जागृत है सूर्यादि देवताओं की शक्तियों के द्वारा मन और दस इंद्रियों के द्वारा जिस अवस्था में आत्मा शब्द स्पर्श आदि स्थूल विषय को ग्रहण करती है उसे आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं भीतर है चैतन्य का वास बाहर है विराट का विस्तार इस विराट से संबंधित होने के दो उपाय हैं ये जो बाहर फैला हुआ है और ये जो भीतर निवास कर रहा है इन दोनों के मिलन की दो दो यात्राएं एक यात्रा है परोक्ष इनडायरेक्ट वो यात्रा होती है इंद्रियों के द्वार से एक यात्रा है प्रत्यक्ष डायरेक्ट इमीजिएट माध्यमहीन वो यात्रा होती है अतिद्रीय अवस्था यदि बाहर जो जगत है उसे जानना है तो दो द्वार हैं एक द्वार है कि मैं शरीर का उपयोग करूं और उसे जानूं और एक उपाय है कि मैं समस्त माध्यम छोड़ दूं और उसे जानूं साधारणता बाहर प्रकाश है तो हम आंख के बिना नहीं जान सकते और बाहर ध्वनि है तो कान के बिना नहीं जान सकते और बाहर रंग है तो इंद्रियों का उपयोग करना पड़े इंद्रियों से हम जानते हैं कि बाहर क्या है इंद्रियां हमारे ज्ञान के माध्यम हैं स्वभावता इंद्रियों से मिला हुआ ये ज्ञान वैसा ही है जैसे कहीं कोई घटना घटे और कोई मुझे आके खबर दे मैं सीधा वहां मौजूद नहीं हूं कोई बीच में खबर लाने वाला संदेश वाहक निश्चित ही खबर मुझे वैसी ही नहीं मिलेगी जैसे घटी है क्योंकि संदेश वाहक की व्याख्या भी सम्मिलित हो जाएगी जब मेरी आंख मुझे खबर देती है कि वृक्ष पर फूल खिला है बहुत सुंदर बहुत प्यारा है ये खबर मुझे मिलती है वृक्ष के फूल के संबंध में तो है ही ये आंख के रुझानों के संबंध में भी है आंख ने अपनी व्याख्या भी जोड़ दी और वृक्ष पर जो फूल खिला है उसमें जो रंग दिखाई पड़ रहे हैं वो वृक्ष के फूल में तो है ही उन रंगों के संबंध में आंख ने भी बहुत कुछ जोड़ दिया है जो वृक्ष के फूल पर नहीं ये जान के आपको हैरानी होगी कि कोई पांच हजार साल पहले आदमी तीन ही रंग देख पाता था इसलिए पांच हजार साल पुराने ग्रंथों में तीन से ज्यादा रंगों के नाम उपलब्ध नहीं फिर आदमी की आंखें और संवेदनशील होती चली गई तब तो वो सात रंग देख पाता है कॉलिन विल्सन ने अपने एक बहुत अद्भुत ग्रंथ में घोषणा की है कि शीघ्र ही दो चार पांच सौ वर्षो में आदमी ऐसे रंग देख पाएगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते आंखें और विकसित होती चली जाती आंख विकसित होती है तो रंग दिखाई पड़ते हैं आंख न हो तो रंग दिखाई नहीं पड़ते रंगहीन हो जाता है जगत जो आदमी अंधा ही पैदा हुआ है उसे रंग का कोई बोध ही नहीं होता जो आदमी बहरा पैदा हुआ है उसे ध्वनि का कोई जगत नहीं होता जगत उसके लिए शून्य है ध्वनि से हमारा जानना इंद्रियों के माध्यम से है फिर इंद्रियां हमें जो खबर देती हैं वही मानने के लिए हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास और खबर पाने का कोई उपाय नहीं पर इंद्रियों की खबर में इंद्रियों की व्याख्या संयुक्त हो जाती है एक चेहरा आप देखते हैं सुंदर मालूम पड़ता है फिर एक खुर्दबीन से उसी चेहरे को देखें तो बहुत घबराहट होगी वो चेहरा बहुत उबर खाबर गड्ढों वाला पहाड़ी और झीलें भी उसमें दिखाई पड़ने लगी उसके छिद्र बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे क्या खुर्दबीन गलत कह रही है नहीं खुर्दबीन अपनी व्याख्या दे रही है वो आपकी आंखों से ज्यादा गहरा देख पाती है फिर एक्सरे की मशीन से देखें उसी चेहरे को तो चमड़ी खो जाएगी हड्डियों का ढांचा भीतर रह जाएगा क्या एक्सरे की मशीन गलत खबर दे रही नहीं एक्सरे की मशीन अपनी व्याख्या दे रही है फिर जो चेहरा आपने अपनी खाली आंख से देखा था वो सही था कि जो खुर्दबीन से देखा वो सही है कि जो एक्सरे से देखा वो सही है वे सभी एक ही चेहरे की खबर दे रहे हैं सभी सही है लेकिन प्रत्येक व्याख्या आंशिक है और जिस माध्यम से पाई गई है उस माध्यम पर निर्भर है लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना माध्यम के जगत को देख सकें क्योंकि जब हम बिना माध्यम से जगत को देखेंगे तभी सत्य दिखाई पड़ेगा इसलिए ऋषियों की जो गहनतम खोज है वो ये है कि जब तक इंद्रियों से हम जगत को जानते हैं तब तक जिसे हम जानते हैं वो जगत के ऊपर इंद्रियों के द्वारा आरोपित प्रक्षेपण उसी का नाम माया है जो आपने देखा है वो दृश्य ही नहीं है देखने वाला भी उसमें संयुक्त हो गया है जब मजनू किसी को कहता है कि लैला बहुत सुंदर है तो ये सिर्फ लैला के संबंध में नहीं कहता है ये मजनू के संबंध में भी कहता है असल में ये मजनू की आंख है जो लैला को सुंदर देख पाती है ये जरूरी नहीं है कि लैला सभी को सुंदर दिखाई पड़े जिनको नहीं सुंदर दिखाई पड़ती उनकी व्याख्या भी लैला के संबंध में ही है और जिसे सुंदर दिखाई पड़ती उसकी व्याख्या भी लैला के संबंध में है वे दोनों एक ही व्यक्ति के संबंध में बोल रहे हैं पर उन दोनों ने जिस माध्यम से मन और इंद्रियों के जिस माध्यम से लैला को खोजा है वो माध्यम भी संयुक्त हो गया उनकी व्याख्या तो जब कोई आदमी आपको किसी के संबंध में खबर देता है कि तो वो आदमी बहुत अच्छा है तो वो सिर्फ उस आदमी के संबंध में खबर नहीं देता अपने संबंध में भी खबर देता है और जब कोई आदमी कहता है कि फला आदमी बहुत बुरा है तो वो उस आदमी के संबंध में ही खबर नहीं देता अपने संबंध में भी खबर देता है शायद दूसरे के संबंध में उसकी खबर गलत भी निकल जाए लेकिन खुद के संबंध में गलत नहीं निकल सकती हमारी इंद्रियां व्याख्या को संयुक्त करती हैं वे निष्क्रिय द्वार नहीं है सक्रिय प्रक्षेपक भी है तो एक तो मार्ग है इंद्रियों के द्वार से जो सत्य का विस्तार है उसे जानने का इस सत्य को जानने से जो ज्ञान हमारी पकड़ में आता है जिन्होंने इंद्रियों के पार भी जगत को देखा है वो कहते हैं वो ज्ञान हमारा इलूजरी है माया है जब शंकर जैसा व्यक्ति कहता है ये जगत माया है तो आप ये मत समझना कि वो ये कहता है कि ये जगत नहीं ऐसे पागलपन की बात शंकर नहीं कह सकते ये जगत नहीं ये जगत बिल्कुल है लेकिन जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं वैसा दिखाई पड़ना आपकी दृष्टि है वही दृष्टि इस जगत को माया बनाए दे रही है जैसा जगत आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपकी व्याख्या है और इसलिए ठीक होगा ये कहना कि इस जगत में एक माया नहीं है जितने इस जगत को जानने वाले हैं उतनी मायाएं हर आदमी अपना जगत निर्मित किए हुए जी रहा है हर आदमी के इर्द गिर्द एक जगत है आप अपने जगत में घिरे हुए जीते आपका पड़ोसी अपने जगत में घिरा हुआ जीता है इन दोनों जगत का कहीं कोई तालमेल नहीं होता और जब भी दो जगत को हम एक साथ बांधते हैं तो कलह होती कोलिजन होता है एक पत्नी और पति के बीच जो संघर्ष है वो दो जगत का संघर्ष है एक बाप और बेटे के बीच जो संघर्ष है वो दो जगत का संघर्ष बेटा अपना जगत निर्मित कर रहा है बाप का जगत निर्मित है इन दोनों के बीच कलह होना अनिवार्य है कोई और उपाय भी नहीं हम अपनी ही व्याख्या में घिरे हुए जीते हैं ऋषि कहता है इस जगत को इंद्रियों के द्वारा जानने की जो स्थिति है वो जागृत है इंद्रियों के माध्यम से इस जगत को जानने की जो अवस्था है उसे जागृत कहेंगे इसमें दो तीन बातें और ख्याल में ले लेनी जरूरी है ऋषि ने कहा सूर्य आदि देवताओं को सूर्य केंद्र है हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं अगर उस सब के केंद्र को हम खोजें तो सूर्य केंद्र है सूर्य बुझ जाए तो हमारा पूरा जगत अभी राख हो जाए जीवन सूर्य है चाहे वृक्ष पर हरे पत्ते आनंद में मग्न हो नाचते हो और चाहे आकाश में बादल सरकते हो और चाहे जमीन पर कोई गीत गाता हो बांसुरी बजाता हो और चाहे बीज में अंकुर टूटता हो और चाहे झरने पहाड़ से उतरकर सागर की तरफ बहते हो इस सब के आधार में सूर्य है सूर्य बुझ जाए तो सब जीवन बुझ जाएगा इसलिए सूर्य आदि देवता का है बाकी सब गौण है सूर्य प्रमुख है सूर्य यानी जीवन आपके भीतर श्वास चल रही और खून में गर्मी है हृदय में धड़कन है सूरज का हाथ है अगर सूरज बुझ जाए तो हमें यह भी पता ना चलेगा कि वो कब बुझ गया क्योंकि उसके बुझने के साथ हम बुझ गए होंगे कोई इतिहास लिखने को बचेगा नहीं जो लिखे कि फला तारीख को सूरज बुझ गया क्योंकि सूरज के बुझने के साथ हम सब तत्काल बुझ जाएंगे इसलिए सूर्य को सदा ही केंद्र पर स्वीकृति मिली है पर इसे देवता क्यों कहते हैं विज्ञान इसे देवता नहीं कहता और वैज्ञानिक को चिंता होती है कि ये ये पांथीजम है ये हर चीज में भगवान को देखने की क्या जरूरत है सूरज सूरज है इसमें देवता को देखने की क्या जरूरत है लेकिन भारतीय मनीषा कुछ और ढंग से सोचती है भारतीय मनीषा के सोचने का ढंग यह है कि जिससे हमें कुछ भी मिले उसके प्रति अनुग्रहित होना अनिवार्य है क्योंकि अनुग्रह के बिना हमारे भीतर जो श्रेष्ठतम है उसका आविर्भाव नहीं होता मनुष्य के भीतर जो भी श्रेष्ठतम है वो अनुग्रह के भाव से ही विकसित होता है जितना अनुग्रह का भाव भीतर होगा उतनी ही मनुष्य की आत्मा विकासमान होती तो सूरज सिर्फ सूरज है जब हम ऐसा कहते हैं ठीक है तो अनुग्रह का कोई संबंध निर्मित नहीं होता ऐसा नहीं लगता कि सूरज से हमें कुछ मिला है ऐसा भी नहीं लगता कि हम सूरज की फैली हुई किरणें हैं ऐसा भी नहीं लगता कि सूरज से हमारे हृदय की धड़कनों का कोई संबंध है ऐसा नहीं लगता कि हम सूरज के ही फैले हुए हाथ हैं दस करोड़ मील दूर लेकिन है हम सूरज की ही किरणें वही धड़कता है हमारे भीतर वही जीता है उसकी ही उष्मा है उसकी ही गर्मी है तो कोई संबंध निर्मित नहीं होता लेकिन ये बड़ी नासमझी की बात है क्योंकि जिससे हमें जीवन मिलता हो उसके प्रति अनुग्रह का भाव ना हो तो हमारे भीतर जो श्रेष्ठतम है उसका विकास ना हो सकेगा अनुग्रह का भाव धार्मिक चित्त का आधारभूत लक्षण उसी अनुग्रह के भाव पर उसे प्रभु का प्रसाद उपलब्ध होता है इसलिए सूर्य को सिर्फ प्रभावित होकर कि वो अग्नि का महापिंड है किन्हीं ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिए होंगे ऐसा नहीं जिन्होंने नमस्कार किया था वे सत्य को भली भांति जानने और पहचानने लगे थे कि उस नमस्कार से सूरज को कुछ भी नहीं मिलता लेकिन नमस्कार करने वाले को बहुत कुछ मिलता है वो अनुग्रह की संवेदना पैदा होनी शुरू होती वो ग्रेटिट्यूड और उसमें ही सरलता जन्म जाती है उसमें ही निर्दोष चित्त हो जाता है और ये सवाल सूरज के प्रति ही नहीं है ये फिर सवाल तो बड़ा है इसलिए जिन्होंने सूरज को नमस्कार किया था उन्होंने नदियों को भी नमस्कार किया था उन्होंने वृक्षों को भी नमस्कार किया था कभी कभी बहुत मजे की घटनाएं घटती हैं बौद्ध 2500 वर्ष से बोधि वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं कोई भी कहेगा नासमझी की बात है संयोग की बात थी कि बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे थे इसमें पूजा जैसा क्या है कहीं और भी बैठे हो सकते थे लेकिन अभी 20 वर्षों में विज्ञान ने कुछ खोजें की हैं तो बड़ी हैरानी का तथ्य प्रकट हुआ वो तथ्य ये है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जिसे हम योग में थर्डाई तीसरा नेत्र या शिव नेत्र कहते रहे हैं विज्ञान और भौतिकवादी चिंतक इस पर हंसते रहे थे कि तीसरी आंख जैसी कोई चीज आदमी के भीतर नहीं ये सब कल्पनाएं हैं लेकिन इधर पचास वर्षों में दोनों आंखों के बीच में एक ग्रंथि को विज्ञान खोज पाया है जो कि शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के भीतर जो भी चैतन्य का आविर्भाव हुआ है वो उसी ग्रंथि में पैदा होने वाले रसों से होता है और वो ग्रंथि वही है जिसे सदा से पूर्व के मनुष्य तीसरा नेत्र कहते रहे उस ग्रंथि से जिस रस का आविर्भाव होता है और जिस रस के बिना मनुष्य के भीतर चेतना पैदा नहीं होती बुद्धि का आविर्भाव नहीं होता है बड़ी हैरानी की बात है कि वो रस बट वृक्ष में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है सारी जगत की वनस्पतियों में सर्वाधिक कोलिन विल्सन ने अपनी अभी नई किताब में दी आकल्ट में लिखा है कि कुछ हैरानी न होगी कि बुद्ध का उस वृक्ष के नीचे बैठना और बोधि को उपलब्ध होना इसमें उस वृक्ष का भी हाथ हो इस वृक्ष का भी हाथ हो ये वृक्ष सिर्फ संयोगिक नहीं है इस वृक्ष का हाथ हो सकता है बट वृक्ष की ही जाति के पीपल वृक्ष को भारत सदा से पूजता रहा है पीपल अकेला वृक्ष है पूरी पृथ्वी की वनस्पतियों में सारे वृक्ष इस अर्थ में पीपल से बिल्कुल भिन्न है रात को वृक्षों के नीचे सोना या बैठना पीपल को छोड़कर खतरनाक है दिन भर वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उनके पास होना जीवन के लिए हितकर है और रात वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनके पास रहना खतरनाक है वो जीवन को हानि पहुंचाते सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है उसके पास किसी भी समय रहे वो जीवनदायी है तो जिन्होंने इतने वृक्षों के बीच पीपल को अचानक पूजा के लिए चुन लिया होगा किसी अनुग्रह के भाव के कारण और बुद्ध का इस वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि को उपलब्ध होना सिर्फ संयोग नहीं है ये भी चुनाव है इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है जगत में जिन्होंने अनुग्रह की किरणें खोजनी चाहिए उन्हें कण कण से वो किरणें मिलती हुई मालूम पड़ी जहां से भी अनुग्रह का संबंध जुड़ जाता है हमने उसी जगह को देवता कहा है देवता का अर्थ है जिसने हमें दिया ही है और हमसे लिया नहीं देवता का अर्थ है जिससे हमें मिला ही है सदा मिलता रहा है नहीं मांगा है तो भी मिलता रहा है हमने धन्यवाद नहीं दिया तो भी मिलता रहा है उसका मिलना उससे मिलना बेसर थे तो हमने देवता कहा है और हम उसे और कुछ भी नहीं दे सकते लौटाकर लेकिन धन्यवाद तो दे ही सकते हैं ये जो चारों तरफ फैला हुआ प्रभु का विस्तार है और इससे हमारे तार तार जुड़े हैं इस जोड़ का बोध जब इंद्रियों के द्वारा चेतना को होता रहता है तो उसे जागृत कहा है the eastern mind mind consciousness in four four one is when we are awake or the first the second is dreaming the third is deep sleep dreamless and the fourth is beyond all the three the three the fourth what is this which we call the awake state of consciousness. Knowledge, knowing is possible in two ways, mediate and immediate. Mediate knowledge means knowledge through some means, not direct, indirect. Senses are the means, the windows through which we know the extension beyond us. But the knowledge gained is indirect. It is not a face-to-face encounter. The mediator is in between. The senses are mediators. And when senses inform something, it is not a simple information. It is a interpretation also. The senses are not just passive receptors. They are positive interpreters also. They impose something. They add something to the information so whenever anything is reported by the senses to the consciousness, it is not a passive receptivity. The senses have added something to it. They have interpreted it. They have imposed something on it. This imposition creates an illusory world around every consciousness and everyone begins to live in a world of his own. This world, the Eastern esoteric mind says, is the Maya, the illusion. It is not the real, the objective, that which is. It is something that you have created. Everyone is within his own world. And there are as many worlds as there are minds. Whenever two, two persons are near, two worlds are in collision. And otherwise it's not possible because you have not known the objective as it is. The second dimension, the alternative dimension to know the world as it is, is not through senses, but through transcendence of the senses. And human consciousness can be in a direct encounter. The senses are just dropped. And it still knowing happens. That may the truth because there has been no mediators now you have known directly to know the truth through the senses is maya to know the truth immediately directly face to face is brahma that which we know remains the same but the knower changes if he is using senses, then he creates an illusory perception. If he is not using the senses, then he is face to face with the reality. Meditation is the path how to drop the senses. How to drop the windows and just to be in the reality without anyone in between. The Rishi says this contact with the world through the senses is the first state of consciousness. The awake state of mind, Jagrat. When you are in contact with the world through the senses, this is जागृत the awake state of the mind इस अवस्था को जागृत कहना सिर्फ प्रतीकात्मक है क्योंकि हमने और बड़ी जागृति नहीं जानी इसीलिए इसे जागृत कहते हैं रिलेटिव सापेक्ष क्योंकि हम तीन अवस्थाएं जानते हैं ये अवस्था इंद्रियों के द्वारा जगत से संबंधित होना दूसरी अवस्था हम जानते हैं स्वप्न की और तीसरी अवस्था हम जानते हैं सुसुप्ति की चौथी अवस्था का हमें कोई पता नहीं जिस दिन हमें चौथी अवस्था का पता चलता है उस दिन हमें यह भी पता चलता है कि जिसे हमने जागृत समझा था वो भी स्वप्न की और निद्रा की ही एक अवस्था थी श्री अरविंद ने कहा है कि जब मैं जागा तब मुझे पता चला कि अब तक मैं सोया ही हुआ था और जब मैंने वास्तविक जीवन जाना तब मुझे पता चला कि जिसे मैं जीवन समझता था वो तो मृत्यु थी लेकिन स्वाभाविक है कि जिसे हम नहीं जानते उसका हमें कोई ख्याल भी नहीं हो सकता और उससे हम कोई तुलना भी नहीं कर सकते इसे जागृत कहते हैं आपकी बाकी दो अवस्थाओं की तुलना में तीन अवस्थाओं से हम परिचित हैं स्वप्न सुसुप्ति जागृत इन तीनों में यही अवस्था जागृत कही जा सकती है जिस दिन हम चौथी से परिचित होते हैं उस दिन ये तीनों अवस्थाएं निद्रा की अवस्थाएं हो जाती उस दिन फिर हमें दूसरे ढंग से कहना पड़ता है उस दिन हमें कहना पड़ता है गहरी सुसुप्ति कम गहरी सुसुप्ति और कम गहरी सुसुप्ति जिसे अभी हम जागृत कहते हैं वो सबसे कम गहरी सुसुप्ति है जिसे हम स्वप्न कहते हैं वो और गहरी सुसुप्ति और जिसे हम सुसुप्ति कहते हैं वो पूरी गहरी सुसुप्ति ये तीनों नींद की ही अवस्थाएं हैं लेकिन अभी इसे हम जागृत कहेंगे दूसरी अवस्था है स्वप्न शब्द आदि स्थूल विषय न होने पर भी जागृत अवस्था की शेष रह गई वासना के कारण मन इंद्रियों द्वारा शब्द आदि वासना में विषयों को ग्रहण करता उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं कभी कभी बहुत हैरानी होती है कहते तो है हम कि जगत अब एक एक बड़ा गांव भर हो गया मार्शल मकलूहान कहता है एक ग्लोबल विलेज एक सारी जमीन एक बड़ा गांव हो गई लेकिन ये बात बहुत गहरी नहीं मालूम पड़ती हम करीब मालूम पड़ते हैं क्योंकि यात्रा के साधन बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी चेतना अभी भी बहुत करीब एक दूसरे के मालूम नहीं पड़ती इस उपनिषद ने हजारों साल पहले ये स्वप्न की व्याख्या की है और पश्चिम अभी इन पचास सालों में इस व्याख्या को पूरा नहीं कर पा रहा है अभी टटोल रहा है हैरानी होती ये बात जानकर कि मनुष्य की सभ्यताएं खोज लेती हैं किन्हीं बातों को तो भी वे बातें स्थानिक और लोकल रह जाती सारी मनुष्य चेतना तक नहीं फैल पाती ये उपनिषद हजारों साल पहले कहता है कि हम उसे स्वप्न कहते हैं इंद्रियां बंद हो गई आंखें बंद है फिर भी दृश्य देखे जा सकते हैं सो गए कान शिथिल पड़ गए बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती फिर भी भीतर ध्वनिया सुनी जा सकती हैं हाथ निढाल पड़े हैं मुर्दे की तरह हाथ कुछ भी नहीं छूटे भीतर अब भी स्पर्श जाना जा सकता है तो ऋषि कहता है जागृत में जो वासनाएं अपूर्ण रह गई पूरी नहीं हो पाई जागृत में जो अधूरा छूट गया स्वप्न उसे पूरा कर लेता है तो स्वप्न जो है वो जागृत की पूर्ति है सप्लीमेंट और दिन में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है राह से निकलते एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है लेकिन घूर कर नहीं देख सकते अशोभन है मन की वासना रह जाती है देखने की शेष रात स्वप्न में उसे देख लेते भोजन करने बैठे हैं पूरा भोजन नहीं कर पाते हैं भागदौड़ है हजार काम है संकोच है शिष्टाचार है रात स्वप्न भोजन को पूरा करवा देता है तो जागृत में जो अधूरा रह गया अनफुलफिल्ड पूरा नहीं हो पाया स्वप्न उस लीक को पकड़ के उसे पूरा कर देता है इसलिए जो आदमी अपने दिन में पूरी तरह जी लेगा उसके स्वप्न खो जाते हैं जो आदमी अपने दिन में पूरी तरह जी लेता है पूरी तरह जो भी करता है पूरी तरह कर लेता है अधूरा अधूरा नहीं जीता हर क्षण को पूरा जी लेता है उसके स्वप्न खो जाते बुद्ध जैसे व्यक्ति को स्वप्न नहीं आएंगे न आने का कारण है क्योंकि कुछ अधूरा बस्ता नहीं जिसे रात में चलाना पड़े ऋषि कहता है इंद्रियां जब बंद हो और तब भी चेतना इंद्रियों के ही रूपों को पुनः पुनः देखती रहे उसे स्वप्न कहते स्वप्न और जागृत में एक फर्क हुआ जागृत में वस्तु बाहर होती है रूप भीतर होता है स्वप्न में वस्तु बाहर नहीं होती लेकिन रूप भीतर होता है तो स्वप्न शुद्ध आकार है कोई वस्तु नहीं है जिस व्यक्ति को आप स्वप्न में देख रहे हैं वो बाहर मौजूद नहीं लेकिन उसकी आकृति भीतर मौजूद ये आकृति भी इंद्रियां ही पैदा करती हैं ध्यान रहे ये आकृति भी इंद्रियां ही पैदा करती हैं ये भी इंद्रिय जन नहीं है इंद्रियां इसे किस भांति पैदा करती हैं प्रत्येक इंद्री अपने अनुभव को संग्रहित करती है आपने जितने रंग देखे हैं अभी तक जितनी बार देखे हैं आपकी रंग की देखने की जो जो स्मृतियां हैं वो आपकी आंख के पीछे संग्रहित है स्वप्न में वही संग्रह काम में आता है आंख फिर से उन रंगों को भीतर खोल लेती आपने जिन जिन को कभी छुआ है स्पर्श किया है वे सब स्पर्श संग्रहित है मनुष्य के इस छोटी सी खोपड़ी के भीतर इस जगत का विशाल से विशाल संग्रह इस छोटे से सिर के भीतर कोई सात करोड़ सेल्स और एक एक सेल एक एक बड़ी दुनिया को संग्रहित किए हुए और ये संग्रह इस जन्म का ही नहीं ये संग्रह अनंत अनंत जन्मों का है इसलिए आप ऐसे रूप देख सकते हैं स्वप्न में जो आपने इस जन्म में देखे ही नहीं आप ऐसे चेहरे देख सकते हैं जिनसे आपकी कोई मुलाकात ही नहीं जिनका आपको कोई स्मरण नहीं आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं जिनका आपकी किस जन्म की स्मृति से कोई लेना देना नहीं इसलिए स्वप्न बहुत भौचक्का कर जाता है कभी बड़ी विभूषण में डाल जाता है कुछ सोच समझ में नहीं आता कि ये स्वप्न क्या है ये कैसा है जन्मों जन्मों का संस्कार इकट्ठा है जो भी जाना है आपने वो सब इकट्ठा है मन उसे फिर खोल लेता है वो रिकॉर्डेड है हम्म, संस्कार का अर्थ होता है संग्रहित संस्कार का अर्थ होता है जो जो आपके मस्तिष्क के सेल्स में कोष्ठों में इकट्ठा हो गया है अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसे उपाय खोजे हैं कि आपके सिर के भीतर इलेक्ट्रोड डाल के आपकी कोई भी भीतर के संग्रह को सक्रिय किया जा सकता है आपकी बिना इजाजत के आप कितने कहें कि मुझे रंग नहीं देखने आप कुछ करना पाएंगे आपकी खोपड़ी के भीतर इलेक्ट्रोड डाल के आपका रंग का जो संग्रह है उसको बिजली से छुआ दिया जाए तो आपके भीतर रंग ही रंग फैल जाएंगे आप कितना ही कहें कि मैं नहीं देखना चाहता आपके बस की बाहर बात है क्योंकि वो संग्रह को छू दिया और एक और मजे की बात है कि उस संग्रह को जब भी छुआ जाएगा पुनरुक्ति होगी वही रंगों की क्योंकि तो वो तो सिर्फ रिकॉर्डेड है जैसे आप एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड है उसको आप कितनी ही बार बजाएं वो फिर वही गीत गा देगा ठीक वैसा ही एक एक सेल आपके मस्तिष्क का रिकॉर्ड है उसको जब भी बिजली से छुएंगे उस पर नीडल रख लिया आपने फिर से सुई रख दी रिकॉर्ड की वो फिर वही का वही बजा देगा फिर वही का वही हजार दफा ऐसा करिए वो सेल जो उसमें रिकॉर्ड है उसको फिर से दोहरा देगा इसलिए अब एक बात सुनिश्चित हो गई वैज्ञानिक अर्थों में भी कि मस्तिष्क आपका एक संग्रहित संस्कार एक कंडीशनिंग है स्वप्न में आप इसी संग्रह में से खोज खोज की चीजें फिर फिर देखते रहते हैं वो जुगाली है भैंस घास चर लेती दिन में जब चबाने की फुर्सत नहीं होती क्योंकि पता नहीं जब वो इसे चबाने में लग जाए तो ये घास तब तक कोई और चढ़ जाए तो पहले वो इसे चबा लेती फिर फुर्सत में बैठ के जुगाली करती फिर निकाल लेती और फिर उसे चबा लेती दिन भर हम संग्रह करते रहते हैं जन्म भर जन्मों हम संग्रह करते रहते हैं फिर स्वप्न में जुगाली चलती जहां जहां मन पूरा नहीं हो पाया था उसको हम फिर खोल लेते उस रिकॉर्ड को हम फिर खोल लेते उस संस्कार को हम फिर पर्दे पर फैला देते ऐसा समझें कि स्वप्न हमारे संस्कारों को बिना इंद्रियों की सहायता के बिना जगत की सहायता के फिर से प्रक्षेपित कर लेने का प्रोजेक्ट कर लेने का इंतजाम ये हमारी निजी संपदा है हम अपने भीतर फिर एक जगत को फैला लेते पूरा जगत आप निर्मित कर ले सकते हैं इसलिए स्वप्न में कभी भी पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं स्वप्न में पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है स्वप्न से जागकर ही पता चलता है कि वो स्वप्न था स्वप्न के भीतर पता नहीं चलता है कि वो स्वप्न है जिसको स्वप्न के भीतर पता चल जाए कि वो स्वप्न है समझना कि स्वप्न टूट गया क्योंकि पता चलने वाला जो है इसके मौजूद होते ही रिकॉर्ड वापस अपनी खोह में छिप जाते क्योंकि आदमी जाग गया जागृति शुरू हो गई स्वप्न की अवस्था टूट गई स्वप्न की अवस्था का अर्थ है इंद्रियों ने संग्रह किया है भीतर हम बिना जगत की सहायता के भी अपने भीतर फिल्म की एक दुनिया पैदा कर सकते वो हम रोज करते हैं ये हमारे चित्त की दूसरी अवस्था है ये हमारी गहरी अवस्था है क्योंकि जागृत में तो हमें चुनाव भी करने पड़ते हैं समाज है सभ्यता है संस्कृति है हमें हजार तरह की रुकावटें डालनी पड़ती लेकिन स्वप्न में हम मुक्त थे अब तक थे पता नहीं भविष्य में हम हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य के स्वप्नों में भी प्रवेश करने की क्षमता वैज्ञानिक को मिलती चली जाती है तो जैसा अभी पिछले 200 वर्षों में सारी दुनिया में राजनीतिक चिल्लाते थे कि विचार की स्वतंत्रता चाहिए कोई आश्चर्य न होगा कि इस सदी के बाद दुनिया में क्रांतियां खड़ी हों और लोग कहें कि स्वप्न की स्वतंत्रता चाहिए हमारे स्वप्नों को मत छेड़ो क्योंकि आज नहीं कल सरकारों के हाथ में ये ताकत आ जाएगी कि वो जो स्वप्न आपको दिखाना चाहें वही दिखाएं और जो न दिखाना चाहें उस पर रुकावट डाल दें अनुबम से भी बड़ा खतरा जो है वो ये है कि मनस्विद वैसी व्यवस्थाएं किए दे रहे हैं और विधियां खोजे ले रहे हैं कि आपके भीतरी मन पर भी बाहर से नियंत्रण किया जा सके अनुबम आदमी के शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन ये जो विधियां हैं ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उसकी मन की गहरी गुलामी पैदा कर सकती और किसी दिन आश्चर्य न होगा कि आपको पुलिस के दफ्तर में बुलाया जाए पूछा जाए कि रात ये स्वप्न आपने क्यों देखा सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ ये स्वप्न बिल्कुल ही अराष्ट्रीय तुम देशद्रोही मालूम पड़ते हो क्योंकि स्वप्न जांचे जा सकते हैं और कोई हैरानी न होगी कि तानाशाही सरकारें उसका उपयोग करना शुरू करें और आदमी के स्वप्नों को भी गतिमान किया जा सकता है छोटा मोटा गतिमान तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी तरकीब ख्याल में हो जाए कोई बहुत बड़े यंत्रों की जरूरत नहीं एक आदमी सो रहा है आप उसके पा पैरों के पास थोड़े बर्फ के टुकड़े रखने थोड़ी दूरी पर उसके पैरों में ठंडक शुरू हो जाए उस आदमी के भीतर स्वप्न शुरू हो जाएगा कि वो नदी में चल रहा है या करीब ऐसा कोई स्वप्न शुरू हो जाएगा तो वर्षा हो रही है जोर से और पैर भीगे जा रहे हैं स्वप्न देखना शुरू कर देगा ये बाहर से जो पैर में ठंडक मिली ये भीतर उसके मस्तिष्क के ठंडक के जो जो संग्रह हैं उनको सक्रिय कर देगी आप अक्सर जब भी नाइटमेयर होता है कभी बहुत दुख स्वप्न होता है तो उसका कुल कारण होता है कि आप अपनी छाती पर हाथ रखे होते हैं और कोई कारण नहीं होता छाती पे हाथ रखे होते हैं तो भीतर सपना होता है कोई छाती पे चढ़ गया फिर स्वप्न शुरू हो गए तो एक आदमी की छाती पे एक तकिया रख दे तो आप उसके भीतर स्वप्न को थोड़ा सा मैनेज कर सकते थोड़ा सा आप उसको उसके स्वप्न को दिशा दे सकते ये तो बहुत सामान्य लेकिन यंत्र अब खोज लिए गए जिनसे गहरी दिशा दी जा सकती क्योंकि सीधे आपके मस्तिष्क के कोष छुए जा सकते हैं और उनसे कुछ निकाला जा सकता है इंद्रियों के बिना ही बाहर जो विराट जगत है उससे संबंधित हुए बिना ही अतीत संबंधों के आधार पर मनुष्य अपने भीतर जो जगत निर्मित कर लेता है उस अवस्था का नाम स्वप्न Dreaming is the second step, deeper than the than the state we call the awake. Dreaming is a substitute state, a secondary, but deeper. Whatsoever has been left unfulfilled in the state when you were awake has to be completed. Mind has a tendency to complete things. If you leave something incomplete, then you will create a dream to complete it. The mind tends to complete a thing. You must complete it. Otherwise, there is some restlessness inside. You have seen uh, some beautiful figures, but you couldn't look at it as you liked, as much you liked. Now, a lingering incompletion will continue inside. You can suppress it when you are awake. You are occupied in many other things, and the suppression is possible. But when you go to sleep, the incomplete link unfolds a dream and completes the thing. This state of dreaming, the Rishi says, means without the instrumentality of your senses, the senses are closed they are not aware of the world beyond you now you are within yourselves within your body but still you can create your own worlds this creation of your own worlds in dreams becomes possible because your mind is a is a conditioning of everything you have known, you have felt. Everything has been accumulated in it. It is the accumulation not only of this life, but all the lives one has lived. And not only of human lives, of animal lives also. And not only of animal lives, but of vegetable life also so in a dream you can become a tree. In a dream you can become a lion. You have been sometime a tree. That memory is still there. It can unfold. This unfoldment of past memories, of past lives, means only that you have never lived totally always living partially you have not loved totally you have not been angry totally you have not been anything totally everything is incomplete so many things incomplete inside create the situation in which dreaming happens the moment one begins to live totally, everything is completed, dreaming ceases. A Christ, a Buddha will not dream. Because he, he has not left anything incomplete. Or Jesus says, this moment is enough. live it totally. Do not think of the other moment that is to come. Do not think of the other moment that has gone. That which has gone is no more, and that which has not come yet has not come yet. Both are non-existential. This moment, this very moment, this past moment is the only existential time. Live in it and leave all else aside. Be totally in it. Then there will be no dreaming. Then everything is complete. And by the night, when you are dropping in sleep, nothing is incomplete to be completed. And when dreaming ceases, mind becomes more aware. This is the second stage of dreaming. When dreaming ceases, you become more awake. And when there is no dreaming in the night, in the morning when you are awake, you have more innocent eyes, more fresh, more alive. In your eyes there is no dust, there is no smoke. The flame is clear without the smoke. Dreaming creates a smoke around your eyes. And one who has been dreaming in the night really goes on dreaming in the day also. Deep down there is always a dream film continuous. You are hearing me. Just close your eyes and look inside and there is a dream unfolding. You are too much occupied outside, that's why you cannot become attentive to your inside dreaming. But the dream, dream continues. Look at the sky, there are no stars now. Where they have gone? They cannot go anywhere. They are where they have been in the night, but only because of the sun, we cannot see them. Our eyes are so much occupied with the sun, they cannot penetrate to them. They are still there. If you can go in a deep well, down, even in the day, you can look to the stars. Because then there is a, a gap of darkness and again stars appear. Just like this, you are continuously dreaming. But when you are occupied in the outside world, the dreaming continues inside without your being attentive to it. The moment you are not occupied, relaxed, you become again aware of the dreaming. This is a constant state in fact continuous. And this dreaming is more indicative about your mind than whatsoever we call the awake. Because this is less inhibited, less suppressed, more naked, and therefore more true. So if your dreaming can be known, if your dream can be known, much is known about you. You cannot deceive, in dreams at least they are still not a part of your will they are not voluntary you are not the controller that's why they are so wild so animal like this second stage must be penetrated and must be transcended. Only then we can come to the third, is still deeper, the deepest sleep, the dreamless sleep. The more you go deep inside, the nearer you are to existence. The deeper you go to the center, the nearer, nearer you are to the center of the universe. These three are concentric circles around the center, the awake, the dreaming, and the deep sleep. These are three concentric circles. If you transcend all these three, then suddenly you are face to face to your own center then you are centered in it. That centering is all. That centering is to achieve the deathless. That centering is to be deep inside the heart of the universe. That centering is divine realization. ये दो अवस्थाएं जागृत स्वप्न स्वप्न को समझ लेना और पार कर लेना जरूरी है स्वप्न से मुक्त हो जाना जरूरी है तो ही जागृत में हमारी आंखें निर्दोष निष्पक्ष साफ धूम्र रहित हो पाती जानवरों की आंखों में एक निर्दोषता दिखाई पड़ती है जो आदमी की आंखों में नहीं दिखाई पड़ती उसका कुल कारण इतना है कि जानवर स्वप्न कम देखते करीब करीब नहीं देखते जो जानवर आदमियों के पास रहते हैं वो स्वप्न देखने लगते हैं जैसे कुत्ते और बिल्लियां देखने लगते क्योंकि आदमी के पास रह के आदमी की बीमारियां जानवरों को भी लग जाती स्वतः एक सतत बेचैनी है आपके भीतर एक सतत बेचैनी एक सतत परेशानी एक तनाव वो आपकी आंखों को प्रभावित करता है गाय की आंखों में झांके ये आंखें बिल्कुल ही धूम रहे थे ये आंखें वैसी हैं जैसे कोई शांत नीली झील होती जिसमें नीचे तलहटी में पड़े हुए पत्थर भी दिखाई पड़ जाते जिस गाय की आंख में उतरे तो कितने भी उतरते चले जाए ये बिल्कुल खाली इसमें कहीं कोई परत नहीं पर आदमी की आंख आदमी की आंख में बड़ी है वे सब पर्दे स्वप्न से निर्मित है इसलिए जितना महत्वाकांक्षी आदमी होगा उतनी उतली आंख हो जाएगी क्योंकि जितना महत्वाकांक्षी होगा उतने सपने देखेगा क्योंकि मैंने कहा कि जो अधूरा रह जाता उससे सपना पैदा होता है और महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी होती नहीं वो सदा ही अधूरी है तो वो अधूरी महत्वाकांक्षा सपनों से भर देती है आदमी को वे सपने इतने गहन हो जा सकते हैं कि उस आदमी को जगाना मुश्किल हो जाए जैसे हिटलर जैसे आदमी को जिसे हमने जागृत कहा है शायद वैसा जागृत भी नहीं होता हिटलर जैसे आदमी के पास वैसी अवस्था भी नहीं होती ये तो अनुभव पीछे हुआ हिटलर के दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के करीब करीब मनोवैज्ञानिकों को यह अनुभव हुआ कि जिस आदमी से हम लड़ रहे थे वो मालूम होता है नींद में जागा हुआ नहीं क्योंकि बर्लिन पर बम गिरने लगे और बर्लिन की सड़कों पर युद्ध हो रहा है और हिटलर सब तरफ हार चुका है और अब कोई बचने का उपाय नहीं और हिटलर जिस बंकर में छिपा है उसके सामने गोलियां बरस रही हैं और हिटलर रेडियो से घोषणाएं कर रहा है कि हम मास्को में जीत रहे हैं ये आदमी सपने में रहा होगा इस आदमी को इस आदमी को ये गोलियां जो इसके दरवाजे पर बरस रही नहीं सुनाई पड़ रही है नहीं तो ये ये कोई उपाय नहीं समझ में आता ये कह रहा है कि हम जीत रहे हिटलर के सेनापति ने आकर उसे खबर दी कि हम हार रहे हैं तो उसने कहा इसे गोली मार दो ये पागल हो गए हम हार ही नहीं सकते हैं ये सवाल ही नहीं घड़ी दो घड़ी की बात है हिटलर ने कहा कि मास्को सरेंडर कर चुका होगा समर्पण कर चुका होगा वो सब जगह हार चुका है लेकिन स्वप्न में जागा हुआ आदमी नहीं महत्वाकांक्षी शायद स्वप्न में ही होता है जितनी महत्वाकांक्षा उतना गहरा स्वप्न इसलिए अगर सबसे उथली आंख देखनी हो तो राजनीतिक के पास मिल सकती है सबसे गहरी आंख देखनी हो तो वो सन्यासी के पास मिलती है क्योंकि सन्यासी का मतलब ही यह है कि अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं अब कोई स्वप्न नहीं अगर कोई एक आध स्वप्न बचा भी है आखिरी तो वो यही है कि कैसे स्वप्न से पार हो जाए कैसे सपने से हट जाए और अलग हो जाए अगर कोई एक आध महत्वाकांक्षा बची भी है तो वही है कि महत्वाकांक्षा से कैसे छुटकारा बस स्वप्न को बिखेर दे तो जागृत सजग हो जाता है या जागृत को सजग कर ले तो स्वप्न बिखरने लगता है जागृत होकर जीने लगे तो सपने कम हो जाएंगे सपने कम कर लें तो जागृति बढ़ जाएगी ये सब जुड़ी हुई संयुक्त घटनाएं और अगर स्वप्न कम हो जाए और जागृत गहरा हो जाए तो ही आपको पहली बार पता चलेगा सुसुप्ति क्या है नहीं तो सुसुप्ति का पता नहीं चलेगा गहरी सुसुप्ति क्या है हम सोते हैं जरूर लेकिन सुसुप्ति का हमें पता नहीं क्योंकि जो जागरण तक में सोया हुआ है वो सोने में कैसे जाग सकेगा जो जागने में नहीं जाग पा रहा है वो सोने में कैसे जाग सकेगा तो सुबह हम उठ के इतना ही कह सकते हैं कि खूब अच्छी नींद आई लेकिन हमें कोई भी पता नहीं कि वो नींद क्या थी आप जिंदगी भर से सो रहे हैं लेकिन आपकी नींद से कभी मुलाकात नहीं हुई आपने कभी नींद को उतरते देखा जैसे रात उतरती है सांझ सूरज ढल जाता और अंधेरा परत पर जमीन को घेरने लगता है ऐसा कभी आपने अपनी चेतना पर नींद को उतरते देखा नहीं देखा क्योंकि नींद जब उतरती है तब आप मौजूद ही नहीं होते और जब तक आप मौजूद होते हैं तब तक नींद उतरती नहीं तो सोते हुए रोज लेकिन सोने से कोई परिचय नहीं और जो अपनी नींद से ही परिचित नहीं हो पाया वो स्वयं से क्या परिचित हो पाएगा जिसके भीतर इतना बड़ा अंधेरा छाया हुआ है इतना बड़ा महाद्वीप नींद का आठ घंटा रोज सोता है और सब होश खो देता है वो आदमी कैसे उस गहरे तल पर पहुंच पाएगा जहां होश कभी खोया नहीं जाता नहीं पहुंच सकेगा स्वप्न तोड़ना पड़े साधना की प्रक्रिया है स्वप्नों को तोड़ना बिखेरना ताकि जागृत और जागृत हो और एक घड़ी आ जाए कि जागृत इतना जागृत हो जाए कि स्वप्न विलीन हो जाए जिस दिन जागृत इतना जागृत हो जाता है कि स्वप्न विलीन हो जाते हैं उसी दिन पहली बार सुसुप्ति का अनुभव होता है सुसुप्ति का दर्शन होता है तब हम सोते भी हैं और जानते भी हैं कि सोए और जिस दिन कोई आदमी सोते में भी जानता है कि मैं सो रहा हूं अब इस आदमी को सुलाने का कोई उपाय ना रहा अब इसको बेहोश नहीं किया जा सकता अब क्रोध असंभव है अब ये हत्या नहीं कर सकता अब ये चोरी कर नहीं सकता अब ये झूठ नहीं बोल सकता अब ये सब असंभव है क्योंकि अब वो वो निद्रा का स्रोत ही टूट गया जिससे ये बेहोश हो सकता था वो जहर समाप्त हुआ जिसमें मूर्छा पकड़ती थी तंद्रा आती थी जब कोई व्यक्ति सुसुप्ति में जागता है तभी तुरी को उपलब्ध हो पाता है चौथी अवस्था को सोने में जो जाग गया वो तुरी में पहुंच गया dreaming has to cease one must cease dreaming dreaming has to be transcendent dreaming is the barriers A dreaming mind can never know the truth. A dreaming mind is bound to live in illusory worlds. Dreaming is the problem. And if dreaming stops, and it stops, when ambition stops, it stops, when desiring stops, it stops when one begins to live moment to moment, just here and now. If you can remember two words, here and now, dreaming stops. Be here and now and there can be no dreaming because dreaming is always from the past and for the future. It originates in the past, it spreads in the future. Dreaming can never be in the present. To be in the present and to be in dream is impossible. They never meet. So if one is awake, aware, attentive of the time that is just here and now, dreaming stops. And when dreaming withers away, you can become aware, really aware. You can really become awake. And when you are awake, this awareness can penetrate the third state of consciousness, dreamless sleep. really in no language other than Indian there is a word for it susupti in no language there is a word for it susupti sleep is not susupti that's why we have to aid dreamless sleep it is not just sleep It is non-dreaming sleep. Without any ripple of the dream. With no waves of the dream. And the ocean is totally silent. Not even a dream is there to disturb. Then you are in susupti, the third state, dreamless sleep, the non-dreaming sleep. But you can never become aware of it unless dreaming ceases. The waves must cease, only then you can become aware of the ocean. Otherwise, you are always aware of the waves. Waves are on the surface. So when you see, you see the waves, not the ocean. The waves must stop totally, only then for the first time you become aware of the ocean, the waveless ocean, the dreamless sleep. And if one can become aware of dreamless sleep, one transcends sleep. One transcends sleep only when one becomes aware of it. And then you are the Turi, the fourth then you have passed all the three. This fourth is the being. This fourth is the search. For this fourth, is all a first. And one may go on continuously dreaming and dreaming and dreaming. One can never achieve this for through dreaming. That's why so much insistence of non-desiring, non-ambition. The Buddhas go on saying, do not desire, because if you desire, then dreaming cannot cease. The Buddha was going saying, do not be attached, because if you are attached, the dreaming cannot cease. Do not be ambitious. Do not long for any beginning. Do not think in terms of future, otherwise dreaming cannot cease. And unless dreaming ceases, you will never be. You can never be. You will always be a becoming. Just a becoming. A changing into B, B changing into C, C changing into D, and always the longing for the far off. And then you go on running, and you never reach then you go on becoming this and that and you are never a being the being is here and now drop dreaming and you are there where you have been really always but never aware all meditation techniques are just just anti dream efforts just dream negating devices अब हम सुबह के ध्यान के लिए तैयार हो दो तीन बातें समझ लें एक थोड़े थोड़े श्रम से नहीं कुछ होता आश्रम पूरा लेना जरूरी है स्वप्न मजबूत है जन्मों जन्मों के तोड़ना है तो गहरा प्रहार करना पड़े आंख पर पट्टी रहेगी और 10 मिनट फास्ट ब्रीदिंग तेज सांस लेनी तेज जैसे कि धोखनी चलती है लोहार की ये चोट करनी है भीतर कुंडलनी पर कि वो जागे 10 मिनट पागल की तरह श्वास लेनी नाचना कूदना जारी हो जाएगा क्योंकि इतने जोर से सांस चलेगी शक्ति जगेगी फिर दूसरे चरण में दस मिनट नाचना है कूदना है चिल्लाना है हंसना है जो भी करने का हो पूरी ताकत से करना है खाली खड़े नहीं रहना कुछ ना कुछ करना ही है जो भी ख्याल में आ जाए वो करना है और फिर तीसरे चरण में हु का हंकार करना है और हु के द्वारा चोट करना और चौथे चरण में हम विश्राम करेंगे three steps are to be followed This would be followed as vigorously as possible. One has to stay totally. Nothing less will do. The first step is fast breathing. Breathe as fast as possible because we are using breathing as a hammer. It is to be a hammering inside for the coiled energy to be uncoiled. So use it as a hammer for the inner serpent to awake it. So do not withhold. Give in completely. For 10 minutes I will go on suggesting you make any effort possible. Whatsoever you can do, do it at your climax and be. In the second step, you have to be in a catharsis dance jump cry laugh whatsoever happens to you but do something movement is necessary whatsoever is inside must be thrown outside this catharsis leads to a purity to a very deep cleansing in the third step you have to use who. So go on crying who, who, who. This too is as a hammer to be used. This mantra who goes deep down to the muladhara, to the sex center and hammers the energy to rise upwards. After 30 minutes, the fourth step, we will be lying just dead and waiting for the divine to descend.